संसार से विरक्त इस लोक में दृष्ट अदृष्ट है स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक तक जितने सब है सुख बाह्य साधन से साध्य है सब से विरक्त होने पर ही प्रत्येगात्म विषयक जिज्ञासा होती है तो उसमें यहाँ श्रुति में उसी जिज्ञासा निवृत्ति के लिए उपदेश है शिष्याचार्य प्रश्न प्रतिवचन रूपेण कथनम शिष्य का प्रश्न आचार्य उत्तर देते इस रूप से कहा गया है ये इसलिए क्यों कहा गया क्योंकि सूक्ष्म वस्तु विषयत्वात् सूक्ष्म वस्तु को विषय करती है जिज्ञासा ज्ञान सूक्ष्म ब्रह्म सुख प्रतिपत्ति कारण भवति सुखेन प्रतिपत्ति है कारण सुख से ज्ञान होगा इसलिए इसे प्रश्नोत्तर रूप से कहा गया और कहने का और भी अभिप्राय है केवल तर्क केवल तर्कागम्यत्वं च दर्शितं भवति केवल तर्क अगम्य तर्क सहाय है श्रुति प्रमाण से निश्चय होने पर तर्क से फिर मनन करना पड़ता है श्रुतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्य सुपत्ति भी मत्वा च सततम ध्येयम एते दर्शन हेतव श्रुति वाक्य से श्रवण करना चाहिए और मंतव्य से उपपत्ति भी युक्ति से मनन करना चाहिए मत्वाच सततम ध्येयम निरंतर ध्यान निधि ध्यासन करना चाहिए एते दर्शन हेतव तो तर्कत श्रुति प्रमाण से सिद्ध अर्थ में संशय निवृत्ति के लिए तर्क आवश्यक है किंतु श्रुति प्रमाण का अनादर करे केवल तर्क से ज्ञान हो जाए ये नहीं हो सकता है इसे आचार्य परंपरा से उपदेश से ही ज्ञान होगा केवल तर्क गम्य नहीं तर्कागम्यतम ये भी दर्शित होता है इस शिष्याचार्य प्रश्न प्रतिवचन रूपण कथन करने से ही श्रुति स्वयं स्पष्ट कहती नैषा तर्केण मतिरापनेया इति श्रुतिश्च कठोपनिषद में ऐसा मति ही तर्केण न आपनेया न प्रापणीय आपनेया अथ टीका में दिया आपनया का तो प्रापणया हातव्या इति पाठ यहाँ हंतव्या तो दिया है कठोपनिषद में नैसा श्रुति नैसा मत तर्केण मतिरा आपनया का तो हातव्या न त्यक्तव्या तर्क से यह बुद्धि की प्राप्ति हो नहीं होती अथवा ये श्रुति से जो बुद्धि होती तर्क से बुद्धि का नाश भी त्याग भी नहीं हो सकता है न हंतव्या का तो हनन नहीं होगा श्रुति प्रमाण से जो ज्ञान होता है वो तर्क से उस ज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती है और केवल तर्क से बुद्धि की प्राप्ति भी नहीं होती है केवल तर्क से ब्रह्म बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती न प्रापणिया अथवा श्रुति से ज्ञान होने पर तर्क से उसी बुद्धि न हंतव्या न हातव्य त्याग नहीं त्याग नहीं कर सकते हैं तर्क से श्रुति प्रमाण बलवत्तर है जितने तर्क करने पर भी श्रुतिजन्य ज्ञान का त्याग नहीं हो सकता है तर्क से ये नैसा तर्कणम या आचार्यवान पुरुष वेद आचार्य अस्य अस्तित आचार्यवान आचार्य है मतलब आचार्य से उपदेश ग्रहण करता है तो इसे पुरुष ज्ञान जानता है आचार्य आचार्याधेश विद्या विदिता साधिष्टम प्राप्त प्राप्नोति आचार्य से विद्या प्राप्त होने पर साधुतम होती है टीका में साधिष्टम का तो शोभनतमम ये साधुतम है शोभनतमम फलम प्रापयति तथ फल प्राप्त विद्या फल प्राप्त कराती आचार्य से प्राप्त होने पर अपने मन से तर्क से नहीं भगवान भी कहते तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा इत्यादि श्रुति स्मृति नियमाच नियम है आचार्य मुख से श्रवण करना चाहिए तो कश्चित गुरुम ब्रह्मनिष्ठम विधिवद उपेत्य प्रत्यगात्म विषयाद अन्यत्र शरणम अपश्यन अभयम नित्यम शिवम अचलम इच्छन पप्रचेति कल्प्यते कोई कश्चित कोई अधिकारी गुरु ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास विधिवद उपेत्य विधि के अनुसार शास्त्र विधि के अनुसार नम्रता के साथ विधिवत उपेत्य प्रास में जा करके के प्रश्न करता है प्रत्यगात्म विषयात अन्यत्र गुरु के पास जाता है कब जब प्रत्यगात्म विषयात अन्यत्र शरणम अपश्यन प्रत्यगात्म विषय ज्ञान उससे अन्यत्र कोई शरण देखता है देखता नहीं है नहीं में महापन आदि गीता में आया कोई दूसरा है ही नहीं जो शोक निवृत्ति के लिए शरण नहीं देखता हुआ तो अभयम नित्यम शिवम अविचलम इच्छन अभय पद नित्य जो शिव कल्याण रूप अचल पद है उसकी इच्छा करते हुए ही जाकर के पप्रच प्रश्न किया यहाँ तक पद भाष्य में भूमिका हो गई अब यहाँ तक वाक्य भाष्य देखा ना भूमिका उसके बाद उपनिषद प्रारंभ होगा तृतीय पृष्ठा में से वाक्य भाष्य प्रयत्नाद्यंतरेणैव मन आदे प्रवर्तकम विदिता विदिता अन्यत्व सिद्धम ब्रह्माहम द्वयम वाक्य भाषा में टीकाकार का मंगलाचरण प्रयत्नादि अंतरणेव मनादि प्रवर्तकम ब्रह्म मन चक्षुरादि सब का प्रवर्तक है मनादे प्रवर्तकम यही केन उपनिषद में कहेंगे मनादि इंद्रिय प्राण का सब का प्रवर्तक होता है ब्रह्म प्रयत्नादि अंतरणेव कुछ प्रयत्न करना अथवा कुछ शब्द कहना कुछ कुछ व्यापार के बिना ही केवल सन्निधि मात्र से ही प्रवर्तक है कुछ प्रयत्न चेष्टा शब्द प्रयोग कुछ नहीं करके ही केवल सन्निधि न मनादि का प्रवर्तक ब्रह्म है जो कि विदिता अविदिता अन्यत्व सिद्धम विदिता अविदिता अन्यत्वेन सिद्धम विदित और अविदित विदित है ज्ञात अविदित अज्ञात अपन से भिन्न जितने हैं कुछ ज्ञात है कुछ अज्ञात है जितने ज्ञात अज्ञात उससे अन्यत्वेन सिद्ध अन्यत्वेन निश्चित होता है ब्रह्म ज्ञात अज्ञात से भिन्न अपना स्वरूप ही है अपने से भिन्न कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात तो से भिन्न अपना स्वरूप है तो अहम अस्मि अन्यत्वेन सिद्धम अहम ब्रह्म ऐसे सिद्ध होता है ब्रह्म अहम अद्वयम अद्वितीय ब्रह्म ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है तद ब्रह्म अहम अस्मि केनेशितम इत्यादि काम सामवेद शाखा भेद ब्राह्मण उपनिषदम पदस्व व्याख्यायापि न तुतोस भगवान भाष्यकार केनेशित इत्यादि काम उपनिषद उपनिषदम सामवेद शाखा भेद ब्राह्मण उपनिषदम सामवेद में 1000 शाखा में से तलव कर शाखा है शाखा वेद शाखा विशेष शाखा विशेष में ब्राह्मण भाग में उपनिषद है इसी उपनिषद की व्याख्या पदस व्याख्याया अभी पद पद की व्याख्या है पद भाष्य में पद व्याख्या है पद पद का अर्थ कहा गया पदस व्याख्याया अपि व्याख्या करके भी न तुतुस तो भगवान भाष्यकार फिर व्याख्यान करने पर भी भगवान भाष्यकार संतुष्ट नहीं हुए न तो तो सब भगवान भाष्यकार क्यों संतोष नहीं हुआ सारे उपनिषद की व्याख्या होगी पदभाष्य संतोष हुआ और केन उपनिषद पद व्याख्या होने पर भी संतोष नहीं हुआ भगवान भाष्यकार को क्यों उसका हेतु देते शारीरिक न्याय अनिर्णितार्थत्वात् शारीरिक न्याय ब्रह्म सूत्र में शरीर संबंधी शारीरिक में होने वाले ब्रह्म सूत्र में जो न्याय है ब्रह्मसूत्र न्याय से अलग अलग अधिकरण में अनिर्णित अर्थ तो अनिर्णित अर्थ यस्य इसी उपनिषद कुछ वाक्य आदि का अर्थ ब्रह्मसूत्र में अलग अलग निरूपण नहीं किया उपनिषद के वाक्य के अर्थों को निर्णय करने के लिए ब्रह्मसूत्र में बहुत उपनिषद वाक्य लेकर विचार किया गया अलग अलग आकाश से ब्रह्म जगत की उत्पत्ति कहीं ब्रह्म से उत्पत्ति कहीं प्राण से उत्पत्ति तो ब्रह्म जगत कारण ब्रह्म है या आकाश है प्राण ही संशय होगा तो सर्वत्र ये निर्णय करने के लिए आकाशस्थ लिंगात अतएव प्राण ऐसे ब्रह्म सूत्र आया आकाश शब्द से जगत की उत्पत्ति कही गई वह आकाश ब्रह्म है प्राण भी ब्रह्म है इस प्रकार विभिन्न स्थान पर उपनिषद वाक्य के अर्थ को निर्णय करने के लिए ब्रह्म सूत्र में सूत्र बनाए व्यास जी ने किंतु ये केन उपनिषद में किसी वाक्य का अर्थ विचार करने के लिए निर्णय नहीं किया गया विचार नहीं किया गया सूत्रकार ने शारीरिक न्याय अनिर्णित अर्थत्वात् निर्णित नहीं हुआ इसलिए भगवान भाष्यकार क्या करते हैं न्याय प्रधानेर प्रधाने ही श्रुत्यर्थ संग्राहकेर वाक्येर व्याचिक्यासु पूर्वकांडेन संबंध संबंधम अभिदित्सु पूर्वकांडार्थम कांडार्थम संक्षेपत दर्शयति यहाँ भगवान भाष्यकार कुछ वाक्य बनाएंगे न्याय प्रधान ही न्याय प्रधानम ये सब वाक्य सुतानि वाक्यानि न्याय प्रधानानि तर्क है न्याय प्रधान श्रुत्यर्थ संग्राहक ही श्रुति के अर्थों को संग्रह करने वाले वाक्य उसको संग्रह वाक्य कहेंगे संक्षेप से श्रुति अर्थ को संग्रह करने वाले वाक्य भगवान भाष्यकार कहेंगे फिर वाक्य की व्याख्या करेंगे इस वाक्यों के द्वारा व्याचिकासु व्याचिकासु व्याख्यान करना चाहते भगवान भाष्यकार न्याय जिसमें प्रधान हो श्रुति अर्थ को संग्रह करने वाले इस वाक्यों के द्वारा उपनिषद की व्याख्या करना चाहते हुए पहले आरंभ में पूर्व कांडेन संबंधम अभिदित्सु पूर्व कांड के साथ उपनिषद का संबंध कहना चाहते हुए पूर्व कांडार्थम संक्षेप तो दर्शयति इसके पहले पूर्व कांड कर्म कांड समाप्त हुआ था वो संक्षेप आठ अध्याय संक्षेप से दिखाते हैं भगवान भाष्यकार समाप्तम कर्मात्म भूत प्राण विषय विज्ञानम कर्म च अनेक प्रकारम ये केन उपनिषद आरंभ के पहले आठ अध्याय कर्म उपासना उसमें कही गई कर्मात्मभूत प्राण विषय विज्ञान कर्म के भूत प्राण कर्मों का कारण होता प्राण से कर्म नाम आत्मभूत आश्रय कर्म का आश्रय है प्राण प्राण विषय का विज्ञान उपासना उपासना प्राण उपासना समाप्त हो गया कर्म च समाप्तम कर्म भी कहे गए उसके कर्म च अनेक प्रकारम अनेक प्रकार कर्म इसके पहले कहा गया टीका में कर्मणाम आत्मभूत का तो आश्रयभूत प्राण कर्म का आश्रय है प्राण तस्य शुद्धत्वादि गुण विशिष्ट से उपासनम पूर्वत्रातिवृतम प्राण शुद्ध है ज्येष्ठ है श्रेष्ठ आदि गुण विशिष्ट प्राण का उपासना पूर्वत्र पूर्व ग्रंथ में अतिवृतम समाप्त हुआ ये उपनिषद आरंभ के पहले आठ अध्याय है उसमें से उपासना कर्म भी कहे गए कर्म च उपासनम अतिवृतम कर्म च कर्म भी समाप्त हुआ नित्य नैमित्तिक आदि अनेक प्रकारम अविदुषाम अतिक्रांतम इत्यर्थ नित्य नैमित्तिक काम में आदि कर्म अनेक प्रकार अज्ञानी के लिए कहा गया अविदुषाम अतिक्रांतम अज्ञानी के लिए कर्म कहा गया ताभ्याम ज्ञान कर्मभ्याम एवं मुख्य सिद्धिर न मुमुक्षो पृथक उपनिषदारभ्या इति शंका निराशाय ज्ञान कर्मणि विषिनष्टि जब इसके पहले कर्म कांड और ज्ञान उपासना में उपासना भी प्राण उपासना कही गई तो कर्म और उपासना से ही मोक्ष हो जाएगा ताभ्याम ज्ञान कर्मभ्याम एव ज्ञान ए उपासना प्राण विषय उपासना और कर्म तो उपासना कर्म से ही मोक्ष सिद्धे मोक्ष जब सिद्ध हो जाएगा मुमुक्षु के लिए पृथक उपनिषद न आरभ्या फिर उपनिषद व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है समझ लिया उपासना करे कर्म करे ज्ञान मुख्य प्राप्त तो कर लेगा फिर उपनिषद ज्यादा क्यों मुमुक्षु के लिए पृथक उपनिषद न आरभ्या ऐसे शंका निराश करने के लिए भगवान भाष्यकार पहले ज्ञान कर्मणि विषि नष्टि जो ज्ञान कहा गया कर्म कहा गया उसको स्पष्ट करते क्या है वो संसार फल देने वाले मोक्ष देने वाले नहीं है ये अनेक प्रकार कर्म भी कहा गया ययोर विकल्प समुच्चय अनुष्ठानाद दक्षिणोत्तराभ्याम श्रुतिभ्याम आवृत्ति अनावृत्ति भवतः विकल्प समुच्चय अनुष्ठानाभ्याम विकल्प ने समुच्चयन को केवल कर्म करे केवल उपासना करे कर्म उपासना मिलाकर करे जैसा भी करे दक्षिणोत्तराभ्याम श्रुतिभ्याम आवृत्ति अनावृत्ति भवतः दक्षिण मार्ग से जाने पर पितृलोक से पुनः पुनः आवृत्ति होती है उत्तरायण मार्ग से जाने पर अनावृत्ति जैसे दक्षिण मार्ग से शीघ्र आवृत्ति से शीघ्र नहीं है अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात कह करके कहा गया उत्तरायण मार्ग से ब्रह्म लोक को जाने वाले की आवृत्ति नहीं होती अनावृत्ति तो वहां भी निर्णय किया आब्रह्म भुवन लोका ना जब तक ज्ञान नहीं हो ब्रह्म ब्रह्मलोक जाने पर भी फिर आवृत्ति होती है इसी कल्प में आवृत्ति नहीं होने पर भी आगे आवृत्ति होगी जिनको ज्ञान हो जाता है वो क्रम से मुक्त हो जाते हैं तो ये ज्ञान कर्म विकल्प से समुचय से जैसा करे तो ये दक्षिण मार्ग से जाकर के पुनः पुनः आते हैं पितृलोक से उत्तरायण मार्ग से जाकर दीर्घ काल रहते तो अनावृत्ति ऐसे ही फल कहा गया मोक्ष सद्य मुख्य नहीं कहा गया टीका में विकल्प समुचय कैसे ज्ञानम अनादृत्य कर्मण एव निरपेक्ष साधनते अनुष्ठानम विकल्प उपासना नहीं करके केवल कर्म से ही मोक्ष हो जाएगा कर्म ही निरपेक्ष साधनतया कर्मण अनुष्ठानम कर्म का अनुष्ठान उपासना से निरपेक्ष करके केवल कर्म करना यही साधन मान करके ये होगा विकल्प ततः चंद्रमंडलम प्राप्य आवर्तते उसे चंद्रमंडल प्राप्त करके स्वर्ग पितृलोक जाकर के फिर आवृत होता है कर्मी केवल से ज्ञान से कर्म समुचित सेवा अनुष्ठानाद केवल उपासना कोई करता है अथवा कर्म समुचित उपासना करेगा तो ब्रह्मलोकम प्राप्य स्थित एव ब्रह्मलोक प्राप्त करके ब्रह्मलोक में रहता है तस्मा नावर्तते इति अनावृत्ति अनावृत्तिर्भवती न पुनरात्यंतिकी अब ब्रह्मलोक जाने पर जैसे पितृलोक से चंद्रलोक से शीघ्र शीघ्र आ जाते हैं ऐसा नहीं आता है न आवर्तते आपेक्षिकी अनावृत्ति चंद्रलोक की अपेक्षा ब्रह्मलोक से आवृत्ति उसको ले, ले करके अनावृत्ति कही गई आत्यंतिक अनावृत्ति ब्रह्मलोक जाने पर आवृत्ति नहीं होगी अनावृत्ति ये बात नहीं है हाँ, शीघ्र शीघ्र आवृत्ति होती चंद्रलोक से ऐसा नहीं होने से अनावृत्ति आपेक्षिकी अनावृत्ति भवती न न आवर्तते का तो अनावृत्ति कि अनावृत्ति आपेक्षिकी आपेक्षिक चंद्रलोक की अपेक्षा करके वो शीघ्र आ जाते हैं वो नहीं आते हैं किंतु आत्यंतिक अनावृत्ति नहीं क्योंकि जब जाएंगे कार्य कोई आरंभ होगा तो अनित्य होता है कृतकत्व परिच्छेदाभ्याम अनित्यत्व अनुमानात ब्रह्मलोक भी अनित्य है कृतकत्वाद ब्रह्मलोक अनित्य कृतकत्वाद घटादिपत परिच्छेदात परिच्छेदात परिचिन्नत्वात जो परिचिन्न है यहां नहीं ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक जाएगा उत्तरायण मार्ग से तो परिचिन्न होगा तो भी अनित्य है कृतकत्व परिच्छेद दोनों हेतु से ब्रह्मलोक का भी अनित्य अनुमान हो जाता है अतः संसार फल कम एव कर्मकांड इसलिए कर्मकांड संसार फलकम संसार फलम यस्य कर्मकांड से जो विधान किया गया कर्म उपासना करे तो फल मिलेगा संसार अंतर्गत मोक्ष नहीं अस्तोयम कर्मकांडार्थ तथापि नियत पूर्वोत्तर भाव अनुपपत्ति लभ्य कथम हेतु हेतु मत भाव संबंध कर्म कांड न ज्ञान कांड से आकांक्षायाम आह कर्म कांडार्थ अयम अस्तु कर्म कांड का ये अर्थ हुआ कर्म विकल्प से समुचय से करे केवल कर्म करे तो पितृलोक प्राप्त करेगा उपासना करे उपासना के साथ कर्म करे तो ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा ये संसार के अंतर्गत फल ये कर्म कांड का अर्थ हो फिर भी उसके बाद जो उपनिषद क्या आरंभ किया जाता है पूर्व में कर्मकांड आगे ज्ञान कांड नियत पूर्वोत्तर भाव अवश्य भावी जो पूर्वोत्तर भाव हमेशा ही कर्मकांड पहले ज्ञान कांड अंत में तो अन्यथा अनुपपत्ति प्रमाण से प्राप्त होता अर्थापति प्रमाण दिवा भुंजान से पिनत अनुपपत्या दिन में नहीं खा करके मोटा है तो रात्रि भोजन की कल्पना होती है नियत पूर्वोत्तर भाव अनुपपत्या अन्यथा अनुपपति कोई विशेष संबंध नहीं होगा तो इस नियत पूर्वोत्तर भाव नहीं होना चाहिए कर्मकांड पहले ज्ञानकांड बाद में ऐसा क्यों इसका कारण है कर्मकांड कारण है ज्ञानकांड कार्य है हेतु हेतु मद्भाव संबंध कर्मकांड से में जो कर्म कहा गया कर्म करने से अंतकोण शुद्ध होगा तो ज्ञान कांड में प्रवृत्त होगा तो ये ये हेतु हेतु मत भाव संबंध कैसे निश्चय होगा किस प्रमाण से अर्थापति प्रमाण से जैसे अर्थापति प्रमाण से दिन में नहीं खाता है मोटा है तो रात्रि में भोजन करता है निश्चय होता है इसको कहते हैं अन्यथा अनुपपति अनुपपति लभ्य अन्यथा का था तो अन्य प्रकार दिन में नहीं खाने वाले रात्रि भोजन के बिना इसे मोटा नहीं हो सकता है तो रात्रि भोजन कल्पना करते हैं इसी प्रकार यहाँ यदि पूर्वोत्तर भाव संभव नहीं यदि कोई विशेष संबंध नहीं होगा तो विशेष संबंध हेतु हेतु भाव संबंध कर्म कांडे न ज्ञान कांड से कर्म कांड से ज्ञान कांड का संबंध है ये कैसे हुआ हेतु हेतु संबंध कैसे सिद्ध होगा कर्म कांड और ज्ञान कांड में हेतु हेतु मद भाव कैसे होगा ये संबंध कैसे ऐसा आकांक्षा होने पर उत्तर देते हैं अत ऊर्ध्वम भाष्य में फल निरपेक्ष ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानात् कृतात्म संस्कारस्य उच्छिन्नात्म ज्ञान प्रतिबंधकस्य द्वैत विषय दोष दर्शिनो निर्ज्ञात आशेष बाह्य विषयत्वात् संसार बीजम अज्ञानम उचित सत प्रत्यात्म विषय जिज्ञासो केनशितम इत्यात्म स्वरूप तत्व विज्ञानाय अयम अध्याय आरभ्यते अत ऊर्ध्वम कर्मकांड समाप्त हो गया उसके आगे अभी उपनिषद आरंभ किया जाता है फल निरपेक्ष ज्ञान कर्म समुच अनुष्ठानात् कर्मकांड में कर्म तो फल के लिए कहा गया जब कर्म फल निरपेक्ष होकर कर्म करेगा सब कर्म अंतकोण शुद्धि का कारण ज्ञान प्राप्ति का कारण फल निरपेक्ष ज्ञान कर्म समुचय अनुष्ठानात उपासना कर्म दोनों करे फल निरपेक्ष होकर के ऐसा करने से ज्ञान कर्म समुचय अनुष्ठान करने से अंतकोण शुद्ध होता है कृत आत्म संस्कार से कृतः आत्म संस्कार ये न सकृत आत्म संस्कार आत्म संस्कार आत्मा है अंतकरण आत्मा तो शुद्ध है उसका संस्कार क्या करना अंतकरण का संस्कार शुद्धि होती है अंतकरण की ये किसके द्वारा विहित कर्म उपासना अनुष्ठान करने से निष्काम होकर के आत्म संस्कार से आत्म संस्कार अंतकरण से जिसका शुद्ध हुआ तो उच्छिन्न आत्मज्ञान प्रतिबंधक से ये सब पाप कर्म कलमस रहता है तो आत्मज्ञान का प्रतिबंधक है ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः पाप कर्म क्षय होने पर ही ज्ञान होता है आत्मज्ञान का प्रतिबंध के पाप कर्म कर्म से राग द्वेष है वासना बहुत है ये सब प्रतिबंधक है जब अंतकरण शुद्ध होता है का अर्थ ये राग द्वेष वासना ये सब पाप सब निवृत्त हो जाने से ही अंतकरण शुद्ध हुआ वो होगा तभी फल निरपेक्ष कर्म उपासना अनुष्ठान करने से तब उच्छिन्न आत्मज्ञान प्रतिबंधक से उच्छिन्न आत्मज्ञान उच्छिन्नम आत्मज्ञान प्रतिबंधकम यस्य आत्मज्ञान का प्रतिबंधक आदि संपूर्ण नष्ट हो गया जिसका उसी जिज्ञासु की इस मुमुक्षु के लिए जिज्ञासा होती है तो उसके लिए ज्ञान उसके लिए उपनिषद आरंभ करते हैं द्वैत विषय दोष दर्शिना अंतकण शुद्ध नहीं तो द्वैत विषय में द्वैत ही विषय द्वैत विषय में दोष दोष दिखता है जब अंतकोण शुद्ध नहीं बहुत आशा बहुत आशा उसके पीछे भागता है जैसे गधा भागता है गधानी के पीछे गधा के पीछे लात भी खाता है भागता ही पीछे इसी प्रकार द्वैत प्रपंच बहुत आशा बहुत आशा भागते हैं मरने का समय हो गया तो भी दौड़ते हैं कितने समय बचना पता नहीं जन्म मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ जो उद्देश्य उसको छोड़ करके प्रपंच में भटकते हैं ये जब अंतकण शुद्ध होता है तो उसमें दोष दृष्टि होती है दोष तो है दोष दिखता नहीं अत्यधिक आसक्ति राग होने पर उसके विषय के पीछे भागते हैं तो जब अंतकण शुद्ध होता है आत्मज्ञान का प्रतिबंधक नष्ट होता है शुद्ध अंतकण होने पर द्वैत विषय दोष दर्शन द्वैत विषय दोषम पश्यति थी दोषदर्शी द्वैत रूप विषय में दोष दृष्टि होती है दोष सब विषय जितने भी विषय है सुख देने वाले विषय करके विषय प्राप्ति की इच्छा करते हैं विषय प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं विषयजन्य जो सुख प्राप्त होता है वो विषय में तो अनित्यत्व दुख मिश्रितत्व ये सब दोष है विषय से जितने सुख प्राप्त होगा सातिशय अतिशय न सह वर्तते इति सातिशय जितने सुख प्राप्त होगा उससे अधिक किसको मिला तो दुख हो जाता है ये सातिश से विषय में ये सातिश है दोष है बहुत दस बीस करोड़ वाले संपत्ति वाले व्यक्ति पचास करोड़ वाले संपत्ति वाले को देखेगा तो दुखी हो जाता हम तो उसे कम है और सौ करोड़ वाला जब मिलेगा पचास करोड़ वाला सिर नीचे कर दिया हमारे आगे साहब आगे उनको कुछ देन लेन नहीं है किंतु बड़े धनी देखने से तो उनके सामने गरीब हो जाता है ये सातिश है और अनित्यत्व जितने विषय प्राप्त हो विषय चले जाएगा नहीं विषय रहे तो भी स्वयं छोड़कर बच जाना पड़ेगा धन संपत्ति इकट्ठी करने पर धन संपत्ति भले रहे स्वयं तो छोड़कर चले जाएगा फिर जाकर कहाँ क्या बनेगा पता नहीं संपत्ति इकट्ठी करने पर आगे जाकर के आगे पूर्ण फिर जन्म उसी घर में जन्म होगा क्या <laughs> उसी घर में नहीं कहाँ जन्म होगा कोई ठिकाना नहीं बहुत आसक्ति हो तो कहीं कुत्ता बनकर के आ जाएगा फिर इसी घर में कभी कभी आसक्ति बहुत हो ना फिर वहीं आ जाएगा कोई कहते कोई बकरा जाकर किसी दुकान में बार-बार बकरा जाता बाद में पता चला वो क्यों जाता है अब पहले दुकान में वही सेठ था <laughs> तो आगे बकरा बन गया तो फिर आगे वही दुकान दौड़ता था तो कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं फिर भी उसके पीछे भागते हैं तो ये सब दोष दृष्टि करने पर सातिशयत्व अनित्यत्व दुख मिश्रितत्व और सुख प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं कभी कभी तो आसक्ति बढ़ जाने से निषिद्ध कर्म भी करने लगते निषेध का उल्लंघन करके करने लगते आसक्ति अधिक होने पर ये सब द्वैत विषय में दोष दृष्टि होती है अंतकोण शुद्ध होने पर द्वैत विषय में दोष दृष्टि होती है जब तो अंतकोण शुद्ध नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा उसी के पीछे धन संपत्ति नाम ख्याति उसके पीछे भागते हैं और अन्य लोग सत्य कितने बड़े हैं कितने बड़े उनका वहाँ महत्व बुद्धि होती है वही बड़े पूज्य वही श्रेष्ठ वही सबसे अधिक है जहाँ धन संपत्ति क्या आती है अंतकोण शुद्ध होने पर फिर सब छोड़ करके बड़े-बड़े राजा महाराजा सब छोड़ करके जंगल में जाते थे और साधु बनने के बाद भी कहीं धन संपत्ति ख्याति सिद्धि चमत्कार उसके प्रति महत्व बुद्धि हो गया हो गई तो गया रास्ता से तो द्वैत विषय में दोष दृष्टि बार-बार होनी चाहिए तब तो वैराग्य होता है निर्ज्ञात अशेष बाह्य विषयत्वात् निर्ज्ञात अशेष बाह्य विषयत्वात् अशेष बाह्य विषय ज्ञात हो गया दोष दर्शन होने पर सारे बाह्य विषय ज्ञान होने से संसार बीजम अज्ञानम उच्चिचिततः संसार बीजम संसार का मूल कारण है अज्ञानम स्वरूप के अज्ञान से ही बंधन है स्वज्ञान नित्य मुक्तता अज्ञान का तथा उच्छेद करना चाहता हुए अज्ञान का उच्छेद ज्ञान से ही हो गया और कोई दूसरा उपाय है नहीं प्रत्यय आत्म विषय जिज्ञासु ऐसा जो चाहता है जो भूख लगती है क्षुधा निवृत्ति के लिए दौड़ना या सो जाएगा क्या करेगा दौड़ेगा क्षुधा निवृत्ति हो जाएगी दौड़ने पर कहीं भोजन मिलेगा तो दौड़ेगा वहां नहीं तो खाली दौड़ने से कहां होगा तो इसी प्रकार अज्ञान निवृत्ति किया निवृत्त चाहता है उच्चेत करना चाहता है तो उसके लिए खाली दौड़ने से भागने से नहीं होगा किससे अज्ञान की निवृत्ति होगी ज्ञान से तो ज्ञान प्राप्ति के लिए दौड़ेगा जैसे भूख लगने पर भोजन जहां मिलता है दौड़ेगा इसी प्रकार प्रत्येगात्म विषय जिज्ञासा प्रत्येगात्म विषय की जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा तब गुरु के पास जाना पड़ेगा उसके लिए ये उपनिषद का आरंभ किया जाता है केने शितम इत्ये आत्म स्वरूप तत्व विज्ञानाय आत्म स्वरूप का तत्व पारमार्थिक स्वरूप ज्ञान के लिए साक्षात्कार करने के लिए अयम विज्ञानाय अयम अध्याय आरभ्यते ये अध्याय अष्टम के बाद उपनिषद के उपनिषद का आरंभ किया जाता है टीका में कामिना अनुष्ठितम कर्म यद्यपि संसार भवति तदेव तो निष्कामिन अनुष्ठितम सत्व होती भवति कामना से कर्म करे तो कामी काम से स्थिति कामी कामिना सकामेन अनुष्ठितम कर्म सकाम कामना से जो कर्म अनुष्ठित होता है वो तो यद्यपि आय भवति वो तो संसार है स्वर्ग आदि प्राप्ति हो पितृलोक हो दक्षिणान मार्ग उत्तरायण मार्ग हो ब्रह्मलोक हो सब संसार के अंतर्गत यद्यपि कर्म उपासना सकाम से अनुष्ठान करने पर संसार फल के लिए किंतु तदेव तो निष्कामेण अनुष्ठितम निष्काम होकर अनुष्ठान करे निष्कामेण अनुष्ठितम टबर का अनुकार ठीक है सत्व शुद्ध अंतकण शुद्धि के लिए होता है शुद्ध सत्व सच्च अनात्म ज्ञान अभिमुख्यम न जायते अंतकण शुद्ध हुआ नहीं हुआ कैसे पता चलेगा शुद्धम सत्वम यस्य जिसका सत्व गुण शुद्ध हो गया रजगुण तम गुण से मिश्रित हो गया तो सत्व गुण कलुषित हो जाता है रजगुण तम गुण कम हो गया तो सत्व गुण शुद्ध हो गया जिसका सत्व गुण शुद्ध है अर्थात अंतगुण शुद्ध है सत्व गुण अंतगुण में सत्व गुण बहुत अधिक हो रजगुण तम गुण कम हो जाए तो शुद्ध सत्व शुद्ध अंतकरण से च अनात्म ज्ञान अभिमुख्यम न जायते अनात्म आत्म ज्ञान अभिमुख होता अंतकरण शुद्ध होने पर और अनात्मा ज्ञान अभिमुख अनात्म विषय संसार विषय ज्ञान में अभिमुख्य शब्द स्पर्श आदि है देह शब्द आदि है तो भोग के लिए अभिमुख अभिमुख्य भोग प्रवणता विषय लांपट्य ये नहीं होता है अंतकोण शुद्ध होने पर अंतकोण शुद्ध हो तो आत्म भिन्न विषय में इच्छा आसक्ति नहीं होगी जब तो विषय इच्छा करता है प्राप्त करने के लिए ज्यादा तब तो अंतकोण अशुद्ध है अंतकोण शुद्ध होने पर अनात्म ज्ञान अभिमुख्य अनात्म विषय के चिंतन अनात्म विषय के ध्यान की अभिमुखता नहीं तो तदुर नहीं जाएगा आवृत चक्षु विषय से उपरत हो जाता है नहीं चाहिए जो तो विषय की इच्छा है इंद्रिय दौड़ते उसके विषय मन भी भागता है और उसमें बड़े खुश होकर बैठता है तब तो अंतकोण शुद्ध है अंतकोण शुद्ध होने पर फिर इंद्रिय से उपरत होकर के बाह्य विषय छोड़ करके तब आत्म विषय का चिंतन बनेगा अंतकोण शुद्ध होने पर ही वैराग्य होता है विषय चिंतन नहीं होता है विषय चिंतन होता है तो अंतकोण अशुद्ध है अनात्म ज्ञान अभिमुख्य न जायते टिप्पणी में दिया देह शब्दादय अनात्मान य अनात्मा है उसके ज्ञान अभिमुख तद भोग प्रावण्य देह शब्द स्पर्श रूप आदि विषय में प्रवणता प्रवणता ढालूपन जैसे पानी नीचे बह जाता है इसी प्रकार इंद्रिय का स्वभाव विषय को दौड़ना अंतकोण शुद्ध होने पर इंद्रिय जो विषय में दौड़ना था वो समाप्त होता है तभी उपरत होकर के फिर प्रत्ययात्म विषय चिंतन कर सकता है निवेशस्य अनर्थ साधनतया अवधारितत्वाद आत्म विषय जिज्ञासा आ जाती जिसका अंतकोण शुद्ध होता है उसका निश्चय हो जाता है अनात्म चिंतन करेगा तो अनर्थ ही है अनात्मा अभिनिवेशस्य निवेश तालवेश अनात्मा में अभिनिवेश अनात्मा भिन्न देहादि में आग्रह उसमें ही मैं मेरा उसकी प्राप्ति के लिए उसके ओर दौड़ता है तब तो अनर्थ साधनतया ये अनर्थ साधन है जो अनात्मा में अभिनिवेश अनात्मा विषय विषय की इच्छा है उससे ही सारे अनर्थ होता है यही विषय सेवन करने के लिए जाता है पाप पुण्य कर्म करता है उसके फल भोग करता है ये अनर्थ संसार को प्राप्त करता है अनर्थ का साधन है ये इस विषय अवधारितत्वाद निश्चित हुआ है शास्त्र में निश्चित हुआ अंतकोण शुद्ध होने पर वो निश्चय साफ साफ दिखता है नहीं तो दिखता नहीं कोई कोई कहते चलो जो होगा होगा देखा जाएगा इसमें नरक होता है देखा जाएगा जो होगा उस समय नरक शब्द सुनने पर उसका अर्थ को ध्यान नहीं देता अंतकोण अशुद्ध होने पर पाप ज्यादा होने पर कहेंगे अरे पाप कर्म करते हो तो आगे नरक जाना पड़ेगा और देखा जाएगा जो होगा अभी तो हम करेंगे उस समय ऐसा लगता है अत्यंत अशुद्ध होने पर ये नहीं होता है जब शुद्ध होता है तो उसका निश्चयता रे ये कर्म करेंगे तो हमको नरक जाना पड़ेगा डरेगा भय करेगा तो अंतकोण शुद्ध होने पर निश्चित होता है बार-बार तब वो समझ करके पाप कर्म से निवृत्त होता है पुण्य कर्म करते समय भी कामना से नहीं करता है क्या पुण्य कर्म करे स्वर्ग जाएंगे तो क्या होगा फिर तो आना पड़ेगा तभी सोच छोड़ करके आत्म विषया एवं जिज्ञासा जायते आत्मा के विषय करने वाली ही जिज्ञासा बहुत जानने की इच्छा करते बहुत संसारे में खबर कहाँ भूकंप हुआ कहाँ मर गए कब नहीं मरते रोज मरते उसको संवाद पत्र लेकर रोज पढ़ो आज इतने मर गए कल इतने मर गए ये मर गए पहले निश्चय करो हमेशा मरते ही है उसमें संवाद पत्र से क्या अधिक मिलेगा कहीं बस से मर गए कहीं ट्रेन ट्रेन से मर गए कहीं भूकंप से मर गए हमेशा ही मरते ही रहते जितने संवाद पत्र निकलता है इतने ही मरते हैं अधिक मरते उससे कितने मरते तो यह निश्चय करो हमेशा मरते ही रहते हैं उसमें पढ़कर क्या देखना और युद्ध विवाद चोरी पुलिस का काम पकड़ना ये हमेशा चलता ही रहता है कोई नई बात नहीं है जब अंतकोण शुद्ध हो जाए तो इससे कोई मतलब नहीं कुछ हो जाए तो हमको क्या मिलेगा और अंतकोण शुद्ध नहीं तो उसको देखना पड़ेगा उधर देखो इधर देखो इधर देखो बाहर सो प्रपंच क्या है आज ही गर्मी कितने काल ठंडा कितने प्रतिदिन गर्मी कितने देखो <laughs> काशी में पंडित थे पढ़ाते थे व्याकरण बोला अच्छा किया आपने पढ़ लिया नहीं तो पता नहीं चलता तो गर्मी ज़्यादा लगती आपको पता चला था तो आज अब गर्मी नहीं लगेगी <laughs> आज इतने डिग्री गर्मी है मालूम हो जाएगा तो गर्मी लगेगी <laughs> जानने पर क्या नहीं जाने पर गर्मी तो बराबर लगेगी उसको पढ़ करके दूसरे को आज इतने गर्मी हो गया इतने गर्मी है ये सब व्यर्थ है तो इसलिए जिज्ञासा आत्म विषयाय जिज्ञासा अंतकोण शुद्ध होने पर जानने की इच्छा जिज्ञासा आत्म विषय जिज्ञासा के अपेक्षा अनात्म जिज्ञासा ज्यादा है अनात्म वस्तु को जानने के लिए बहुत सारा जीवन भर उसी में पीछे जब अंतकोण शुद्ध होता है धीरे-धीरे सब उपेक्षा कर लेता है सब उपेक्षा छोड़ो फिर आत्म विषय एवं जिज्ञासा आत्म विषय की ही जिज्ञासा होती है जिज्ञासोश्च आत्मनिरूपणाय उपनिषद आरभ्यते इति हेतु हेतुमत भाव इत्यर्थ जो जिज्ञासा उसके लिए उपनिषद आरंभ हो उपनिषद वेदांत किसके लिए मुमुक्षु के लिए कोई कहता हमको पढ़ाना नहीं हम क्यों पढ़ेंगे जैसे कि पढ़ना केवल पढ़ाने के लिए ऐसा नहीं मुमुक्षु के लिए वेदांत है जिज्ञासु के लिए जिज्ञासुश्च आत्मनिरूपणाय आत्मा का निश्चय निरूपण करने के लिए उपनिषद आरभ्यते उपनिषद का आरंभ किया जाता है मुमुक्षु के लिए जो मुमुक्षु है उसके लिए श्रवण करने की आवश्यकता श्रवण करना ही चाहिए इति हेतु हेतु मद्भाव इति अर्थ संबंध हुआ हेतु हेतु मद्भाव कर्मकांड से प्रतिपादित कर्म उपासना कर्ण से अंतकुण शुद्ध होता है अंतकर्ण शुद्ध होने पर जिज्ञासा होती जिज्ञासा होने पर ज्ञान होगा तभी उसके लिए उपनिषद आरंभ किया जाता है इसलिए ज्ञान कांड और कर्म कांड में हेतु हेतु मद्भाव संबंध हुआ हेतु भाव हेतु मद्भाव हेतुत्वम हेतुमत्वम कार्य कारण भाव कारण हो गया कर्म कांड उपासना कर्म करेगा तो अंतगुण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेगा आत्मस्वरूप ब्रह्म तत्व विज्ञान आय अयम अध्याय आरभ्यते चेत आत्मस्वरूप जो ब्रह्म उसके तत्व ज्ञान साक्षात्कार करने के लिए ये उपनिषद अध्याय नवम अध्याय आरंभ किया जाता है यदि किम तेन विज्ञानेन फलम स्यात् आत्म तत्व ज्ञान होने से क्या फल मिलेगा इत्यतः तेन च भाष्य में दिया तेन च मृत्यु पदम अज्ञानम उच्चेतव्यम ततंत्रो ही संसारयत मृत्यु पदम मृत्यु पद ने कहा गया अज्ञानम मृत्यु पदम वाचकम यस्य मृत्यु ने उक्तम अज्ञानम उच्चेतव्यम ज्ञान से ज्ञान से अज्ञान का उच्छेदन कर उच्छेद करना ततंत्रो ही संसार यत यत ततंत्रो संसार अज्ञान के तंत्र अज्ञान के अधीन संसार तत अज्ञानम तंत्रम यस्य संसार से प्रधान है अज्ञानी मूल कारण अज्ञानी के अधीन संसार तो संसार निवृत्ति के लिए मोक्ष के लिए अज्ञान निवृत्ति करना है और अज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान से तेन च काथ ज्ञानेन च यतो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अज्ञान तंत्रा संसार प्रसिद्धि तदुच्छेदेन आत्यंतिक संसार उच्छेद फलमित्यर्थ अन्य व्यतिरिकाभ्याम मृत सत्य घट सत्वम ये अन्वय मृत अभाव घट अभाव व्यतिरिक इससे सिद्ध होता है मिट्टी घट का कारण है मृत सत्व घट सत्व का अर्थ मृद इतर अन्य कारण सत्व मिट्टी से भिन्न अन्य कारण होते हुए मिट्टी होगा हो तो घट बनेगा मिट्टी नहीं तो घट नहीं बनेगा इस अन्य व्यतिरिक द्वारा सिद्ध होता है मिट्टी घट का कारण मिट्टी से बिना सब कारण होते रासव गधा पास में तो भी घट बन जाता है तो रासव सत्य घट सत्व अन्य हो गया और रासव चला जाएगा तो घट बनेगा व्यतिरिक नहीं रासव चला जाने पर घट नहीं बनेगा ऐसा नहीं रासव चला गया तो कुलाल घट बनाता है तो व्यतिरिक नहीं रहा केवल अन्य रहने पर भी रासव घट का कारण नहीं होता है अन्य व्यतिरिक दोनों होने पर कार्य कारण निश्चय होता है इसी प्रकार यहाँ अज्ञान सत्य संसार सत्वम अज्ञान अभाव संसार अभाव अज्ञान जब तक है ईश्वर रज्जु अज्ञान है तो सर्प ज्ञान संसार भय कंप आदि अज्ञान रज्जु ज्ञान हो गया अज्ञान नष्ट हो गया सर्प आदि भय नहीं रहता है इसी प्रकार यहाँ भी अज्ञान है अज्ञानी को ही संसार है सुखी दुखी जो आत्मज्ञान हो जाता है ज्ञानी में संसार का अभाव अन्य व्यतिरिकाभ्याम अज्ञान तंत्र संसार प्रसिद्धि अज्ञान के अधीन संसार तद उच्छेदेन आत्यंतिक संसार तो उच्छेद फल तो ज्ञान से अज्ञान का उच्छेद होने से संसार का आत्यंतिक उच्छेद हो जाएगा यही फल है संसार उच्छेद दुख की निवृत्ति कहते रोग होता है तो औषध खा दुख निवृत्त हो जाएगा अज्ञान को क्यों नष्ट करना औषध सेवन करने से रोग तो निवृत्त हो जाता है आगे फिर कभी रोग होता है क्या हाँ एक बार नष्ट हो जाते फिर रोग होता है एक रोग नष्ट दूसरा पकड़ा आत्यंतिक उच्छेद नहीं होता है ये रोग आदि का दुख का आत्यंतिक उच्छेद सुसुप्ति अवस्था में दुख नष्ट हो जाता है किंतु जगने के बाद फिर अपने कर्म तथा साथ में कर्म बल को उसको उठा देगा इतने देर सोना नहीं उठो पेट में दर्द है देखो कैसे कैसे सुख लगता है देखो पेट में दर्द कान में दर्द नाक में दर्द कुछ ना कुछ दांत में दर्द कान में दर्द जब होता है दर्द जिसको होता है वही पता जानता है क्या कष्ट होता है अत्यधिक दर्द होगा तो रात भर सो नहीं सकता है दांत में दर्द होगा तो दांत में कान में दर्द होगा तो बहुत दर्द होता है लेटते ही दर्द उठ जाएगा सो लेट नहीं सकता है कष्ट ऐसे होता है तो कर्म फल देता है तो जब तक अज्ञान है तब तक कर्म फल भोगना पड़ता है सुसुप्ति भी नहीं होती है सरस्वती में दुख की आत्यंतिक निवृत्ति कहाँ होगी थोड़े दिन नष्ट हो गया फिर उठना पड़ता है फिर दुख है आत्यंतिक निवृत्ति है दुख का मूल कारण अज्ञान नष्ट होने पर ये संसार उच्चद आत्यंतिक उच्चद फल ज्ञान से मृत्यु कारणम आत्मा ज्ञानम उच्चेतुम इच्छत आत्मजिज्ञासा जायते तो उत्तम मृत्यु कारणम आत्मा ज्ञानम ये मृत्यु आदि का कारण है संसार का कारण आत्मा का अज्ञान उसको जो उच्छेद करना चाहते उच्छेदुम इच्छत जो उच्छेद करना चाहता है उसकी आत्म जिज्ञासा थे उसकी आत्म विषय की जिज्ञासा होती है ये कहा गया सिद्धांत ने शंका करते हैं आत्म जिज्ञासा की क्या आवश्यकता है आत्म जिज्ञासा थे ठीक नहीं तदसत क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं तो जिज्ञासा होगी जिसका ज्ञान है उसकी जिज्ञासा क्या होगी भूख लगते है तो कोई जाता है सूर्य को देखने के लिए भूख लगते है तो फिर देखना सूर्योदय गया नहीं देखेंगे दिया दिन में गर्म होता तो नहीं क्षुधा होती तो भोजन करना चाहेगा या छात के ऊपर कौन बैठा है बंदर बैठा उसको देखना चाहेगा तो ये पूर्व जी कहता है ज्ञान तो आत्म आत्मज्ञान है ही और क्या ज्ञान है उसकी जिज्ञासा क्या होगी अहम प्रत्यय नैव आत्मन अधिगतत्वात् अधिगत जिज्ञासा अनुपपते ज्ञात वस्तु में जिज्ञासा नहीं होती अज्ञात है तो जानने की इच्छा होगी देखते हैं ऊपर बंदर बैठा है ऊपर की जिज्ञासा क्या है अहम प्रत्यय नैव आत्मन अधिगतत्वात् अहम ऐसे ज्ञान होता है सबको वही अहम सत्य आत्मा का ज्ञान होता है नया के लोग कहते आपको अहम ऐसे ज्ञान होता है नहीं होता है तो अहम जो ज्ञान होता है मनुष्य आत्मा का प्रत्यक्ष होता है तो आत्मा का ज्ञान हो गया आत्मन अधिगत तो अज्ञात है जब ज्ञात है उसमें फिर जिज्ञासा नहीं होती अधिगत जिज्ञासा अनुपपते ज्ञान अधिगत ज्ञात आत्मा हमेशा आत्मा का ज्ञान होता है आत्मा का ज्ञान हो गया तो जिज्ञासा नहीं होगी इसलिए विषय जिज्ञासा क्या जरूरत है अज्ञान निवृत्ति के लिए इति आशंका अनधिगतत्वात् भाष्य में अनधिगतत्वाद आत्मन युक्ता तद अधिगमाय तद विषय जिज्ञासा अनधिगतत्वाद आत्मन आत्मा अधिगत नहीं है जो अहम प्रत्यय के द्वारा ज्ञान कहते हैं वो आत्मा नहीं शुद्ध आत्मा नहीं है वो देहादि को मिला करके कहते हैं तार्किक लोग तो कहते आत्मा का प्रत्यक्ष होता है अहम ऐसे ज्ञान से मन से प्रत्यक्ष हो जाएगा तो आत्मा अणु है महान है इसमें विवाद क्यों होता है तो शुद्ध आत्मा का अहम प्रत्यय से ज्ञान नहीं होता अनधिगतत्वात् आत्मन युक्ता आत्मन युक्ता तद अधिगमय तद विषय जिज्ञासा उसका ज्ञान के लिए जिज्ञासा युक्त है ज्ञान के लिए तद विषय आत्म विषय जिज्ञासा होती है अहम प्रत्ययस्य मनुष्यत्वादि समानाधिकृतस्य व्यतिरित आत्म प्रमापकत्वा देर वादिना विप्रतिपति दर्शनाच युक्ता जिज्ञासा इत्यर्थः अहम मनुष्य काले अहने अहम मनुष्य ज्ञान होता है या हम पशु से ज्ञान होता है अहम मनुष्य तो अहम ज्ञान होता है मनुष्यत्वादि समान अधिकृतत्वाद मनुष्यत्व पुरुषत्व कृषत्व में पतला हो गया मोटा हो गया मनुष्यत्व आदि समान अधिकृतत्व जिसमें मनुष्यत्व उसको अहम प्रत्यय का विषय मानना मनुष्यत्व आत्मा में है या देह में है स्थूल शरीर में है इसे मनुष्यता आदि होने से आत्म शुद्ध आत्म का नहीं व्यतिरित आत्म प्रमापकत्व सिद्ध है देहादि से अतिरिक्त आत्मा देहादि से अतिरिक्त आत्मा का प्रमापक अहम ऐसे बुद्धि नहीं है अहम ज्ञान तो होता है आत्मा अनात्म सब को मिला करके देहादि से अतिरिक्त में हूं इसका ज्ञान अहम ज्ञान नहीं है व्यतिरित जो आत्मा देहादि से व्यतिरित भिन्न आत्मा उसका प्रमापक अहम प्रत्यय नहीं सिद्ध नहीं और दूसरा भी कारण भी विप्रतिपति दर्शनाच वादियों का विवाद अहम प्रत्यय के द्वारा ज्ञान किसका होता है आत्मा का ज्ञान होता तो आत्मा अणु महान देह के परिमाण विवाद क्यों होता है अहम प्रत्यय के विषय में विवाद दिखते दिखने से ज्ञान नहीं होता है युक्ता जिज्ञासा अहम आत्मा अज्ञात है उसलिए जिज्ञासा होगी पूर्व पक्ष ने कहा ना कहा पूर्व पक्ष ने कहा था हमको अहम ऐसे ज्ञान हो गया आत्मा का और जिज्ञासा क्यों तो कहते यहाँ अहम प्रत्यय से आत्मा का ज्ञान नहीं अहम मनुष्य होता है ज्ञान तो मनुष्यत्व जिसमें है उसमें अहम प्रत्यय विषयत्व है तो देह में अहम प्रत्यय विषयत्व है है देह में देहादि से भिन्न आत्मा ऐसा ज्ञान नहीं होता है जितने तर्क पढ़ने के बाद देहादि से अन्य आत्मा अनुमान करेंगे आत्मा स्वात्रित भिन्न तदितर्भ्य भिद्यते कस्मात् ज्ञानाधिकरणत्वात् यन्नेवं तन्नेवं जैसे पृथ्वी इतर्भ्य भिद्यते गंधवत्वा यन्नेवं तन्नेवं व्यावृत्ति व्यवहारस्य लक्षणस्य प्रयोजन लक्षण का प्रयोजन व्यावृत्ति वेद ज्ञान जैसे पृथ्वी का लक्षण मालूम हो गया गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम उसका फल क्या है पृथ्वी इतरेभ्य विद्यते लक्षण के हेतु बना ना गंधवत्वात् और व्याप्ति वहां की व्याप्ति है जो इतर यद इतरेभ्य न विद्यते न तत गंधवत् यथा जलम यद इतरेभ्य न विद्य जो इतर से भिन्न नहीं है जो साध्य वाला नहीं है वो हेतु वाला नहीं है गंध वाला भी नहीं जैसे जल इसी प्रकार यहां करेंगे आत्मा इतरेभ्य विद्यते अनात्म से भिन्न है क्यों लक्षण के हेतु बना आत्मा का कोई लक्षण है तर्क संग्रह में त्वात् और यन एवं तन एवं जो ज्ञानाधिकरण नहीं है वो इतर से बिना नहीं जैसे घटा दिए ऐसा अनुमान करेगा आत्मा का निश्चय हो गया अनुमान से और प्रत्यक्ष भी होता है तो भी मैं मनुष्य तर्क से ज्ञान हो गया आत्मा का प्रत्यक्ष हुआ तो मैं मनुष्य कैसे ज्ञान होता है आत्मा में मनुष्यत्व है पशुत्व है देवत्व है कुछ नहीं तो भी मैं मनुष्य ही बुद्धि नहीं जाती है इसलिए हुआ ज्ञान आत्मशुद्ध आत्म विषय का नहीं है व्यतिरित आत्म विषय का नहीं जिज्ञासा होती है तथापि कर्मकांड देह व्यतिरितस्य आत्मत्वेन विद्यावेक्षितत्वेन निरूपितत्वाद अनुपपत्तु कथम जिज्ञासा जिज्ञासरूपनिषदारभ्यत इति आशंका पूर्व पीछे कहता है कर्म कांड में जो यजेत स्वर्ग काम कहा गया जो स्वर्ग चाहता है वो याग करे तो देह ही यदि आत्मा मानेंगे वो कर्म विधान होगा कर्म करना है मरने के बाद स्वर्ग मिलना मिलेगा देह ही यदि आत्मा तो मरने के बाद आत्मा का हर आत्मा तो समाप्त हो गया और आगे स्वर्ग कौन जाएगा तो स्वर्ग के लिए कर्म करने के लिए विधान किया गया कर्म करते हैं तो देह से अतिरिक्त आत्मा अवश्य निश्चय है देहादि से अतिरिक्त आत्मा है जो परलोकगामी स्वर्ग में जाएगा इसलिए याग आदि करते हैं याग आदि का विधान किया गया और पाप कर्म का निषेध किया गया मां हिंसा सर्वभूतानि हिंसा करेगा तो पाप करेगा तो नरक जाएगा तो ये कर्म कांड से सिद्ध होता है देह आदि से अतिरिक्त आत्मा कर्म कांडे देह व्यतिरिक्त से आत्मन विधि अपचितत्वन यजेत स्वर्ग काम विधि के लिए अपेक्षित है देह से अतिरिक्त आत्मा देह से भिन्न आत्मा नहीं होगा तो कर्म कांड में कर्म विधि व्यर्थ हो जाएगी कर्म का विधान किया गया क्या जरूरत देह ही यदि आत्मा होगा देह तथा समाप्त हो जाएगा तो परलोक स्वर्ग प्राप्ति के लिए याग आदि विधान व्यर्थ हो जाएगा विधि के लिए अपेक्षित तो होता है देह से अतिरिक्त आत्मा देह से अतिरिक्त आत्मा होने से वो परलोक जाएगा उसके लिए स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए कर्म करना विधान किया गया ये कर्म कांड में निरूपित हुआ आत्मा के विषय में विचार किया गया कर्म कांड पूर्व मीमांसा में देहाद्यते इत्याह नास्तिक निराकरिष्णुर आत्मास्तित्वम भाष्य कृततर युक्त्या विषय से बोध प्रयाति वेदांत निषेवणेन मीमांसा में साबर स्वामी कुमारल भट्ट ने आत्मा का निरूपण किया देहादि से भिन्न आत्मा क्योंकि नास्तिक लोग कहेंगे देह ही आत्मा है परलोक है ही नहीं कुछ कर्म क्यों करना विधि व्यर्थ है इसलिए कहते नहीं देहादि सत्रित आत्मा है इत्या आस्तिक नास्तिक निराकरण नास्तिकों को निराकरण के लिए भाष्यकार ने सावर स्वामी ने आत्मा अस्तित्व भाष्यकृत अतर युक्त्या अस्तित्व कहा युक्ति से बहुत युक्ति दे करके नास्तिक मत निराकरण करने करके अस्तित्व सिद्ध किया मीमांसा में तो निरूपित हो गया पूर्व कांड में आत्मा है करके निश्चित हो गया देहादि से आत्मा जब निश्चय हो गया तो फिर और जिज्ञासा क्या है देहादि से आत्मा तो निश्चित हो गया पुनर्जिज्ञासा अनुपपत्तो फिर जिज्ञासा नहीं होगी देहादि से अतिरिक्त पूर्व कांड में निश्चित हो गया कर्म कांड पहले पढ़ा पूर्व पूर्व मीमांसा समझ लिया तो देहादि से अतिरिक्त आत्मा निश्चय हो गया और फिर उपनिषद की क्या आवश्यकता है कथम जिज्ञासु उपनिषद आरभ्यते जिज्ञासु के लिए उपनिषद आरंभ क्यों करते इति आशंका कर्म विषय चानुक्ति तद विधि तद विरोधित्वात् यहाँ से एक ये वाक्य हुआ संग्रह वाक्य वाक्य भाष्य है एक वाक्य संग्रह वाक्य हो गया कर्म विषय चानुक्ति तद विरोधित्वात् एक वाक्य है कर्म कांड में आत्मा का कथन नहीं किया गया तद विरोधित्वात् कर्म का विरोधी है जो शुद्ध आत्मा वो अकर्ता है कर्म कांड में तो कर्ता आत्मा के लिए विधान किया जाएगा ये संग्रह वाक्य करके आगे उसका व्याख्यान करेंगे टीका में पहले पूर्व पक्षी वाक्य का अर्थ दिया है अस्ति देहादि व्यतिरिक्त परलोक संबंधी आत्मा इतेतावदेव स्वर्ग आदि चोदना भी अपेक्षितम न तो ब्रह्मात्म तत्वम अस्ति देहादि व्यतिरिक्त परलोक संबंधी आत्मा कर्म करने के लिए विधि के लिए अपेक्षित क्या चाहिए देहादि से भिन्न आत्मा है देहादि से व्यतिरित जो परलोक संबंधी परलोक प्राप्त करने वाला ऐसा आत्मा है इतने ही चाहिए यजेत स्वर्ग काम आदि विधि के लिए स्वर्ग काम आदि चोदना भी विधि से अपेक्षित होता है परलोक संबंधी आत्मा है देहादि से अन्य इतने चाहिए न तो ब्रह्मात्म तत्व तो ब्रह्मात्म तत्व तो ब्रह्मणात्म तत्व तो ब्रह्म ही आत्मा ऐसी की आवश्यकता नहीं है कर्मकांड के लिए देहादि से अतिरिक्त परलोकगामी आत्मा है इतने चाहिए ये कर्मकांड में इतने निर्णय हुआ किंतु वही ब्रह्म है जगत कारण ब्रह्म से अभिनय ये नहीं है तस्य कर्म आद क्योंकि ब्रह्मात्म तत्व ज्ञान हो गया तो कर्म का विरुद्ध है कर्म कर नहीं सकता कर्मकांड के लिए जितने आवश्यक इतने कर्मकांड में निर्णित तो हुआ देहादि से अतिरिक्त परलोक संबंधी आत्मा किंतु चित पिपासादि रहित ब्रह्मा है आत्मा ये ज्ञान के लिए जिज्ञासा होगी ततस तद जिज्ञासा होता है इसलिए आत्म तत्व की जिज्ञासा होती है जिज्ञासा होने से उसके लिए उपनिषद आरंभ यहाँ तक भूमिका हुई अभी एक वाक्य है कर्म विशेषानुक्ति तद विरोधित्वा संग्रह वाक्य और संग्रह वाक्य करें उसका व्याख्या करेंगे ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्र